और उनसे उनके नबी ने यह भी कहा कि तालूत की बादशाहत की अलामत यह है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आ जाएगा जिसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से सकीनत का सामान है और मूसा और हारून ने जो अशिया छोड़ी थीं उनमें से कुछ बाकी मांदा चीजें हैं उसे फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे लिए इसमें बड़ी निशानी है